ी प्रतिष्ठिता मनोमे वाचे प्रतिष्ठितम् आहिरावेः वेदस्य महाणि स्थः श्रुतम् भेवा प्रकाशति वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा ऋग्वेदी परिषद प्रथम अध्याय के तृतीय खंड के त्रयोदश मंत्र के ऊपर कुछ विचार चल रहा था तो परमात्मा इस शरीर में जब इस मूर्धा को विदार करके प्रविष्ट हुआ प्रविष्ट होने के बाद वो जो यहाँ जात हो गया जब इस शरीर में प्रवेश किया भूतानी अपेक्षक कहा भूतों को स्थूलीभूत किया उसने उसके बाद उस भूत के आकार से ही अपने आकार को मानने लग गया ये अध्यारोप चल रहा है आगे अपवाद चलेगा अध्यारोप और अपवाद यहाँ आरोप चल रहा है भूतों के नाम से ही अपना नाम कहने लग गया किम यह अन्यम बाबरिषद क्या अन्य कुछ भी नहीं ऐसा बोलने लग गया आखिर में जाकर के जब साधना करता हुआ चला तो गुरु की कृपा से उसको महावाक्य सुनने को मिला तो ज्ञान हो गया तो फिर जिस स्वरूप में पहले था उसी स्वरूप को प्राप्त हो उसी स्वरूप को जाना अपने को स एकम एक पुरुषम ब्रह्म तमम अपश्य उसी ब्रह्म रूप पहले ब्रह्म था तो आत्मा वही दबे का यग्रे आशित यही था उसी रूप में अपने को देखा अगर सम मैंने ध्यान लिया ऐसा समझा बाद में यह है अपवाद जो आरोप था उसको हटाया आत्मज्ञान होने के बाद में कुछ नहीं है आरोपित को हटाना है अपना स्वरूप वही है जो पूर्व अवस्था के स्वरूप है वही स्वरूप है ये ज्ञान होना है ये कहा टीका से कहा आदि कम भूतकाल से कारण सकाम से धर्म तो आत्मा ये जागृत आदि तीन अवस्था आत्मा का तीन आवश्यकता बता था तीन थाने जागृत सत्य शक्ति तो ये तो भूतों का धर्म है आत्मा का धर्म तो है ही नहीं फिर कैसे उसका तीर्थान होगा ये शंका थी नम जागृतादिकम भूतकारी से कार्य का संघात से धर्म जो शरीर इंद्रिय समुदाय का धर्म है जागृतादि अवस्था आत्मा का धर्म तो है ही नहीं ये शंका उठाई तो उत्तर देते हैं तद भिन्न श्यादी तस्मिन तादात्मा विमाना तद्रह करता यद्यपि आत्मा शरीर आदि से अतिरिक्त है फिर भी शरीर आदि का धर्म का आरोप करता है क्यों उसमें तादात में है शरीर के साथ जागृता आदि धर्म को अपने में आरोप करके अपना धर्म समझता है ये कहा तद भिन्न से अभी शरीर इंद्रिय आदि से भिन्न होने पर भी तस्मिन तादात्मा उस शरीर इंद्रिया आदि में तादात्मा होने के कारण से तद धर्मवत्व आत्मा में उसका धर्मवान आत्मा हो जाएगा जागृता व्यवस्था शरीर आदि का धर्म होने पर भी अपना धर्म मान लेता है ऐसे यही कहना है वक्तुम सजात एक वाक्यम सजात इत्यादि वाक्य यही है भूतान या व्यक्षण कहा भूतों के धर्म को अपने धर्म मानने लगा ये कहा भूतान एवं आभिमुख्य न तादात्म्य ने करो भूतों को पैदा बनाया मैंने नाम नाम रूप लगाया अपने रूप से ही किया तादात्म रूप से किया भिन्न रूप से नहीं किया और उत्तम ज्ञातवान व्यक्तम ज्ञातवान व्यक्त रूप से जाना उसने स्पष्ट रूप से जाना मैं मनुष्य हूं ऐसे जानने लग गया उतवास और कहने भी लग गया मनुष्यों हम भूतों से तादात्म्य होकर शरीर के साथ तादात्म होकर के स्वयं अपने को शरीर से मान करके मनुष्य हम पूर्ण शरीर का धर्म आरोप करके बोलता है मैं मनुष्य हूं मनुष्यत्व धर्म आत्मा का नहीं पूर्ण शरीर का है उसका साथ एकता करके वो धर्म को अपना धर्म समझता है मनुष्य हम काणो हम कहता है काणत्व तो चक्षु का धर्म है काणापना एक आंख फूट जाना वो काणा होता है तो वो चक्षु का धर्म है लेकिन चक्षु के साथ एकत्र करके करके बोलता है मैं काणा ऐसा बोलता है सुखी हम सुख जो है मन का धर्म है किंतु मन के साथ एकता करके बोलने लगे मैं सुखी हूं इत्यादि प्रकार का इस प्रकार से भूतों के साथ तादात्म करके उसके धर्म को अपना धर्म मानने लग गया तथा चुल्कम अन्य श्रुति में कहा है छांदव्य में कहा अनैन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरण जब यह प्रवेश होता है तो जीव संज्ञा प्राप्त हो जाती है उसकी परमात्मा अपने स्वरूप से प्रवेश नहीं कर रहा रूपांतर से जीव रूप से प्रविष्ट होता है अंतर्गमाद विशिष्ट होने पर जीवत्व आ जाता है उसमें अनैन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी कहा इस जीव रूप से मैं प्रविष्ट होकर के नाम रूप को स्थूलीभूत करूं ऐसा शांत में आया आगे शंका है ननु व्यतिरिक्त आत्मज्ञान है सभी कथम उक्त तादात्म भ्रम ये तादात्म्य शंका का भ्रम कैसे होगा उसको तादात्म कैसे करता है थूल शरीर का धर्म अपने में आरोप कैसे करता है मनुष्य हम कैसा बोलता है काणो हम करके चक्षु का धर्म कैसे अपने बनाता है ये शंका आ गई आत्मा अतिरिक्त है ज्ञान हो गया है उस स्थिति में फिर तादात्म्य कैसे करेगा तो शरीर का धर्म अपने को कैसे मानता है मैं मनुष्य हूं व्यवहार कैसे करेगा वो शंका आई तो कहते हैं श्रुति स्वयं बोलती है नहीं नहीं भूतों से अतिरिक्त नहीं देखा उसने किम यह अन्यम बावरिषद यहां और क्या चीज है यही तो है जो कुछ है ये बोलने का जिससे अन्य कुछ है कुछ नहीं है ये जो दिखाई पड़ता है शरीर से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है ऐसा समझना कहा ठीक है वे कहते हैं यह अस्मिन शरीरे इस शरीर में अन्यम व्यतिरिक्तम आत्मा भावनी सत्यम ये प्रश्न हुआ ये शरीर में अतिरिक्त आत्मा है ऐसा कहा क्या कहते हैं कि काकवा लोकतवान भय के बारे में बोला कुछ दिखता नहीं है यही जो दिखता है हाँ, यही है इससे भिन्न बोलने पर डर लग गया उसको भिन्न आत्मा है कहने भय हो गया काकू शब्द भय के लिए प्रयोग होता है उसको भिन्न आत्मा है ऐसा कहने के साहस नहीं है न ज्ञातवान भी दृष्टि खाली बोला ही नहीं ये बात नहीं जाना भी नहीं उसने भीतर आत्मा अलग है जानता हुआ भी भय के कारण नहीं कहा ऐसी बात नहीं जाना भी नहीं अलग आत्मा है जो कुछ है यही है यही समझा व्यवहार दशा में यही होता है इसे अतिरिक्त आत्मा का बोध होता ही यही समझता है इति शब्दों यस्माद इति अर्थ है बाबदिशत इति में जो इति शब्द आया है वह यस्माद इस अर्थ में है कहा इति शब्दों यस्माद इति अर्थ है यस्माद एवं तस्माद अभ्युपेक्षक अध्यारोप प्रकट समाप्त अर्थवाद तो जिससे भी ऐसा है इसलिए उसने शरीर से ही अपना परिचय देना आरंभ कर दिया मैं मनुष्य हूँ मैं सुखी हूँ मैं काड़ा हूँ मैं भूखा हूँ मैं ज्ञानी हूँ इत्यादि माने उन उन धर्मों का आरोप करके अपने में वास्तव में वो धर्म आत्मा का नहीं है मनुष्यत्व शरीर का धर्म है मनुष्य व्यक्ति में तादात्म्य करके एकता करके बोलता है मनुष्य काणत्व तो आदि धर्म सूक्ष्म शरीर का है चक्षु आदि का है किंतु तो उसमें एकता करके बोलता है मैं काड़ा हूं बहिरा हूं और मैं भूखा हूं प्यासा हूं प्राण के साथ एकत्र करके प्राण के धर्म को अपने में आरोप करने के मिलता है मन के धर्म आरोप करता है तरह सुखी हूं दुखी हूं बुद्धि का धर्म आरोप करके ज्ञानी हूं जानकार हूं ऐसा बोलता है ये सब होता है यह आरोप प्रकरण है कहा इति शब्द यस्माद यस्माद ये यस्माद एवं तस्माद अद्यवेख्यत इति अध्यारोप प्रकरण समाप्त करते चुका ये आरोप प्रकरण चल रहा है आत्मा में दूसरे का धर्म का आरोप किया अब आगे अपवाद प्रकरण क्योंकि आत्मा का परिचय कैसे दिया जाए निराकार है निर्गुण है उसका ज्ञान कैसे कराया जाए ये दो ही प्रक्रिया है अध्यारोपा अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच अध्यारोप और अपवाद पहले आरोप किया उसी आत्मा से सारी सृष्टि दिखाई और आगे इसका खंडन करके वह आत्मा एक ही बचाना है ज्ञान हो जाएगा अब अपवाद प्रकरण आना है इदम वाक्यम भाष्यकार ही स्पष्टत्वाद उपेक्षित कहा यह वाक्य जो है ना भाष्यकार ने स्पष्ट होने के कारण उपेक्षित दी इसको भाष्य में लिखा नहीं भाष्य में केवल सजाता शरीर प्रविष्टो जीवात्मना भूतानी अव्यवेखित व्यापन इतना लिखा है किम यह अन्यम बावरिषद इत्यादि का भाष्य लिखा नहीं भाष्यकार स्पष्ट है इसलिए भाष्यकार ने उपेक्षित कर दी अथवा लेखक दोषात परितम अथवा लिखने वालों के दोष हो गया भाष्यकार ने तो बोला था होगा लिखने वाले को दोष गलती हो गई नहीं लिखा प्रिंटिंग नहीं उसकी तो किम यह अन्य बावनिषद टीकाकार ने अर्थ किया भाष्य में उसका अर्थ नहीं है भाष्य में तो इतना यह सजात शरीर प्रविष्टो जीवात्मना भूतानी अभिवेखित व्याकरो जो शरीर में प्रविष्ट हुआ है जात मान शरीर प्रविष्ट जो मूर्धा को विदारण करके शरीर पर प्रविष्ट हुआ आत्मा है उसने क्या काम किया इन भूतों को स्थूलीभूत किया मनुष्य आदि रूप से अपने को परिचय दिया इतना अर्थ है किम यह अन्यम बावदेशत इत्यादि इसका अर्थ नहीं है नहीं लिखा है भाष्य में तो लेखक का प्रमाद होगा एक अर्थ है लेखक दोषात्मक लेखक के दोष के कारण से वो स्खलित हो गया पाठ ऐसा हो सकता है कहा आगे कहते हैं एवं अध्यारोपम प्रदर्श इस प्रकार से आरोप दिखाया होता है क्या किया शुरू में एक ही आत्मा था आत्मा वही इधम एक अग्रे आशीत नान्यत किंचन विशत स्वगत सजातीय विजाति भेद तीनों भेद से रहित एक ही आत्मा था कोई एक ही आत्मा था और फिर ये जगत कहाँ से आया सब जगत की स्त्री को हाँ, सा एक शतः लोकामी सृजयी थी यहाँ से आरंभ हुआ है लोगों की सृष्टि बताई लोक सृष्टि के बाद में लोकपालों की सृष्टि फिर उनके शरीर की सृष्टि फिर आगे अन्न की सृष्टि ये सारी सृष्टि सृष्टि सृष्टि फिर स्वयं का प्रवेश जो तो सृष्टि के पूर्व में एक अकेला है कोई है ही नहीं ये कहां से आए सब आरोप किया अभी तक जो कुछ हुआ माने जो सलोकान इच्छता सृजई थी यहां से लेकर के यहां प्रवेश तक एतमेव सीमान विदारे यथा द्वारा प्राप्त तक ये सब आरोप है उसे में से विस्तार दिखाया और आगे निषेध करता है ये कहना चाहते हैं आगे स एतम एवं पुरुषम ब्रह्म तत्म अपश्यत इदम अदर्शम इति यहां से लेकर के अपवाद प्रकरण करेगा बाद में जो यहाँ प्रवेश होने के बाद में मनुष्यादि रूप से अपना परिचय दे रहा था अपना स्वरूप भूला हुआ था उसके किसी पुण्य कर्म का उदय जब होगा तो उसको सदगुरु मिल जाएंगे गुरु तो कृपा हो जाएगी गुरु मिल जाएंगे महावाक्य सुन, सुनेगा तत्वसी तो आदि महावाक्य सुनेगा सुनने के बाद उसको उसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो मैं ये शरीर आदि नहीं हूं मैं सचिदान आत्मा हूं ये ज्ञान मिल जाएगा उसी ब्रह्म रूप से अपने को देखेगा इसके पहले मनुष्य रूप में दिख रहा था तो उपदेश के पश्चात अपने को ब्रह्म रूप में दिखेगा ये कहना आगे ये बात मंत्र में कहा था स एकता में पुरुषम ब्रह्म तत्व अपश्य अपवाद प्रकरण आरंभ हो गया उसने इसी पुरुष ब्रह्म जो विस्तृत ब्रह्म है तथा का तो विस्तार होता है तथा से भी तमक प्रत्यय लगाए तो तथा तमम हो जाएगा अतिशय विस्तार विस्तृत जो ब्रह्म है व्यापक ब्रह्म है उसी रूप से अपने को देखा इदम आदर्शम इस मैंने इसको देख लिया ऐसा भी कहा मैंने जान लिया अपना स्वरूप को जान लिया ऐसा कहता है यह अपवाद है अपने स्वरूप सृष्टि के पहले अपना स्वरूप ही था बीच में सब आरोप करके भिन्नत्व तो आया था फिर उसको बाध कर दिया तो अपना स्वरूप ही हो गया ये कहना चाहते हैं इसी को आगे ठीक हम कहते हैं एवं अध्यारोपम प्रदर्श इस प्रकार से हम्म, सलोकान इक्षता यहां से लेकर के आरोप प्रकरण आरोप हुआ था परमात्मा में लोक आदि कुछ ना थे एक ही परमात्मा था आत्मा वही इदम एक अग्रे आशित नान्यत किंचन मिश्र शब्द है तो कोई भी नहीं अकेला आत्मा था तो लोग आज मटेरियल भी नहीं है और बनाने वाला भी कोई नहीं अकेला आत्मा है तो कैसे लोग आएगा केवल आरोप किया था आरोप तो यहां प्रवेश कराने तक जो वाक्य आया है अध्यारोप के साथ अब अपवाद प्रकरण आरंभ करते हैं फिर अपना स्वरूप को समझा ये बोला था आया कुछ नहीं वो पूर्व स्वरूप को समझा उसने सृष्टि के पूर्व में जो स्वरूप था वही स्वरूप को समझा यही है एवं अध्यारोपम प्रदर्श इस प्रकार से आरोप को प्रदर्शन करके दिखाकर तस्य अपवादार्थम या आरोप का अपवाद करना है इसके लिए स एतम इत्यादि वाक्य व्याचष्ट तद व्याचष्ट कहा ये वाक्य जो स एतम एवं पुरुषम ब्रह्म तत्वम अपश्यत प्रदर्शन इति ऐसा जो वाक्य है इसकी व्याख्या करते हैं कहा स कदाचित भाष्य में कहा स कदाचित कभी ऐसे समय आएगा उसका किसी जन्म में जाकर के किसी समय में पुण्यकर्म संचित पुण्यकर्म एकत्रित हो जाए उसके कभी ऐसी स्थिति कदाचित कभी इतना सुलभ नहीं कभी परम कारुण के नाम परम करुणा दयालु जो गुरु जी मिल जाए उसको तो इसके दुर्गति को देख करके उद्देश्यता कोई मिल जाए जो मैं मनुष्य हूं करके घूम रहा है इसको उपदेष्टा मिल जाए कोई कदाचित कभी किसी समय में परम कारुण के ना आचार्य ना परम करुणा युक्त जो आचार्य दयालु आचार्य के द्वारा आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्द आया आत्मज्ञान को प्रबोध करने जगाने वाला शब्द करने वाली शब्द करने वाली जो नगाड़ा बजा देंगे जब शब्द शब्द का आत्मज्ञान प्रबोधकृत तो आत्मज्ञान को जगाने वाली अपना स्वरूप उसको ध्यान में लाने वाले जो शब्द का शब्द कर लेने पर शब्द कैसा शब्द कौन करेगा वेदांत महाभेरियाम कहते हैं वेदांत रूपी जो उपनिषद रूपी जो नगाड़ा है उसको बजाएंगे तो गुरु जी जो उपनिषद सुनाएंगे इसको उपनिषद नगाड़ा बजाने का भेरिया तत्कर्ण मूल्य ताट्यमान आयाम उसके कान के पास में तत्वमसी तत्वमसी ऐसा ताड़ित करते पर ऐसा ध्वनि सुनाने पर नगाड़ा बजेगा छोटे मोटे और सभा शब्द सुनता है नगाड़े का शब्द सुनता है ऐसा सुनाने पर एक कारण जब उसका पुण्योदय कभी होगा उस स्थिति में परम काल के कारण के आचार्य परम दयालु जो आचार्य होंगे उनके द्वारा आत्मज्ञान प्रबोधकृत आत्मज्ञान को जगाने वाले कौन ऐसा शब्द है शब्द का आयाम शब्द करने वाली कौन वेदांत महाभैरियाम वेदांत होता है उपनिषद उपनिषद रूपी महाभेरी है बहुत बड़ा नगाड़ा है वेदांत रूपी नगाड़ा पहले मंदिरों में रखते थे नगाड़े होते थे बजते थे अब खत्म हो गए वेदांत महाभैरियाम वेदांत रूपी जो महान बहुत बड़े नगाड़ा है वो बजाया मैंने उपनिषद और तत्कर्ण मूल्य ताट्यमानायम नगरा जब पीटा गया वेदांत वाक्य सुनाया गया उसके कान के पास में कान के जड़ में आके सुनाया तत्वमसी तत्वमसी सुना दिया अरे तू ये आड़ वंश का पुतला नहीं है तू तो वही है जो सृष्टि के पहले था वही तू आया आत्मा भाई इधम एक अग्रे आशीर कहा था वही अभी भी तू वो है ये नहीं है ऐसा जो करने पर एकम एवं फिर उसने क्या देखा यही इसी रूप को पाया जिस रूप में पहले था एतम एव यही इसी को समझा अपना स्वरूप सृष्टि आदि कर्तृत्व परिवर्तन जिसको सृष्टि आदि की कर्ता रूप से प्रकरण चला है आत्मा वही इधम एक अग्रे आशित नान्य चिंतन विषप यही था तब हाँ, सत लोकान असृजयी इत्यादि सृष्टि आदि कर्तृ रूप से जो चल रहा था उसी को अपना सूत्र समझा एक सृष्टि आदि कर्तृत्व प्रकृतम पुरुषम जो प्रकृत पुरुष है पुरुष है ना पुरुषम ये शरीर में उपलब्ध होता है इसलिए पुरुष कहा जाता है आत्मा पुरुष है पुरुष कहा अथवा पूर्णात् पुरुषम पूर्ण होता है व्यापक है इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है आत्मा प्रकृतम पुरुषम पूरी सयानम पूरी में सोने वाला ये शरीर में उपलब्ध होता है इसलिए उसको पुरुष कहा पूरी सयानम आत्मानम आत्मा कभी भी मिलेगा तो यही मिलेगा अहम ब्रह्मास्त्र वृत्ति यही बनेगी इसलिए पूरी शयाम का शरीर में सोने वाला यद्यपि ब्रह्म व्यापक है परमात्मा व्यापक है सबकी बुद्धि होती है किंतु सर्वत्र आत्मबुद्धि नहीं होती आत्मबुद्धि यही होती है कभी भी अहम ब्रह्मास्त्र वृत्ति यही बन जाएगी क्यों वृत्ति बननी मन में है मन हृदय में है इसलिए आत्मा ब्रह्म में या हृदय में है ऐसा माना जाता है उपलब्धि यहाँ होती है है तो सर्वत्र व्यापक है किंतु तो उपलब्धि यहाँ होती है जैसे गाय का दूध पूरे शरीर में व्याप्त होता है किंतु उसके उपलब्धि का स्थान होता है स्तन कान को निचड़ने से दूध नहीं मिलेगा शींग से दूध नहीं आएगा पूछ से दूध नहीं आएगा स्तन से आएगा इसी प्रकार उस आत्मा की उपलब्धि का स्थान है मन वृत्ति बनाने मन में है जैसे अभी अहम मनुष्य ऐसे वृत्ति बना रहा है मन मन आप मन बना रहा है मैं मनुष्य मान्यता है उसकी इस प्रकार अहम ब्रह्मास्म में भी यदि वृत्ति बनाएगा तो मन को ही बनाना पड़ेगा अभी तमोगुणी अवस्था में है रजगुणी अवस्था में है जब शुद्ध सत्वगुणी अवस्था में पहुंचेगा तो अहम ब्रह्मास्म वृत्ति बनाएगा क्यों भजन साधन भी इसी ने करना है दुष्कर्म भी इसी ने करना है यही है रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति करने पर दुष्कर्म आदि करेगा सत्वगुणी वृत्ति करने पर भजन साधन आदि मन लग जाएगा करना तो मन का ही काम है दोनों मन ही है तो परम सप्तगुणी अवस्था में अहम ब्रह्मास्त्र वृत्ति बनाएगा तो मन का ही काम है इसलिए कहा पूरी से पूरी सयानम कहा इस शरीर में उपलब्ध होने वाला जो आत्मा है आत्मानम ब्रह्म उसको ब्रह्म रूप से देखा उसने अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से देखा जब वेदांत रूपी नगाड़ी बज गए इसके कान में तत्वसी तो आदि महाभारत से सुना सुन पड़े तो उस कारण नगाड़े के ध्वनि से महावाक्य रूपी नगाड़े के ध्वनि जब सुना सुनने पर इसी शरीर के भीतर रहने वाला आत्मा को ब्रह्म रूप से पाया अहम ब्रह्माष्टमी इस वृत्ति में पहुंच गया वृत्ति बदलती है होना जाना कुछ भी नहीं है अभी मनुष्याकार वृत्ति है एक मैं मनुष्य हूं कह रहा है मन की वृत्ति है इसी प्रकार अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति होता है ब्रह्म ब्रह्म शब्द बृहत्तम अत्यंत व्यापक है ब्रह्मेर वो अच्छा ऐसा उनादि सूत्र है ब्रीही वृद्ध धातु है सबसे व्यापक को ब्रह्म कहा जाता है ब्रीही वृद्ध धातु से यदि धातु है आ जाएगा ब्रह्म बन जाएगा और मन प्रत्यय होगा ब्रह्म के जो नकार को अकार होगा यण हो जाएगा ब्रह्म बन जाएगा ब्रह्मण शब्द बनता है व्यापक अर्थ आता है ब्रह्म का अर्थ तो ये बृहद तदम ब्रह्म शब्द का अर्थ सबसे बड़ा व्यापक वैसे आदि की अपेक्षा पृथ्वी व्यापक है बड़ी है पृथ्वी पृथ्वी की अपेक्षा आकाश बड़ा है आकाश की अपेक्षा माया बड़ी है व्यापक है उसकी अपेक्षा भी ब्रह्म बड़ा है सबसे बड़ा है व्यापक ब्रह्म में कहते हैं यहां पर ततमम दिया हुआ है ततमम होना चाहिए तन विस्तारे धातु से निष्ठा प्रत्यय करते ततः बनता है विस्तृत को ततः बोलते हैं उसके बाद तमक प्रत्यय लगा अतिशय हाँ, ततः तततमम ऐसा होना चाहिए तततमम होना था ततमम एक तकार लोक तक रखा है तीन तकार सुनाई पड़ना तततमम तत तो धातु और निष्ठा करके तत बन चुका है आगे तमप लगेगा अतिशाय आएंगे में तमपिष्ठमप अतिशय अर्थ दिखाने के लिए तमप लगता है तमप अतिशय बृहद सबसे बड़ा व्यापक यह अर्थ लेना है तकारेण एक लुप्तेना ततमम जो बनाया हुआ यहां पर एक तकार लोप करके बनाया गया है कहा तततमम होना चाहिए जब तन विस्तार धातु से विस्तार करेंगे तो ततः बनेगा उसके बाद फिर तमक प्रत्यय लगाएंगे तो तततम हो जाएगा ये कहा किंतु यहां ततमम लिखा हुआ है मंत्र में एक तकार लोप करके रखा हुआ है तततमम व्याप्ततमम अत्यंत व्याप्त अतिशयन व्याप्त व्याप्ततमम अतिशय व्याप्त वस्तु वह आत्मा ऐसा है उस रूप से पाया जब शरीर में प्रवेश था अध्यारूप काल में अपने को परिचिन्न रूप में पा रहा था मैं मनुष्य हूं साढ़े तीन हाथ मेरा लंबाई चौड़ा यह है ऐसा अपने देता था किंतु अब जो वेदांत रूपी नदी नगर नगड़ाई बजे जब सुना उसने सुनने के बाद में उसके मन की वृत्ति बदल गई तो सृष्टि के पूर्व में जो वस्तु था वही वस्तु रूप में अपने को पाया आत्मा भाई इतमय दाते आश्रित नान्य किंचन सर उसी रूप में अपने को पाया तो पाया तो क्या पाया उसने व्याप्त पाया परिपूर्ण पाया अपरिचिन्न भाव में नहीं ब्रह्म भाव में देखा उसने अपने को व्याप्तम तो परिपूर्णम आकाश भर जैसे आकाश का कहीं अभाव नहीं वैसे कि आत्मा का अभाव कहीं भी नहीं इस रूप में पाया पहले देहादि के कार घेरे में आने के कारण देहादि के धर्म को अपने मान करके ये लंबाई चौड़ाई शरीर का होता है वही अपना परिचय दे रहा था मैं साढ़े तीन फुट का हूं इतना लंबा हूं ऐसा बोलता था साढ़े तीन हाथ का हूं ऐसा बोलता था किंतु अब शरीर से अलग हो गया वो शरीर ने हड्डी मांग सा पुतला मैं हूं मैं तो सृष्टि के पूर्व में जो वस्तु था वही वस्तु हूं ये ख्याल आ गया आने पर परिपूर्ण भाव में अपने को समझा परिपूर्ण आकाशवत आकाश प्रति अबुद प्रत्यबुद्ध्यत मैंने अपश्यत वह अपश्यत शब्द है मंत्र में ब्रह्म तत्व अपश्यत तो अपश्यत का अर्थ करते हैं प्रत्यबुद्धता ऐसा जाना अपने स्वरूप को ऐसा पाया ऐसा है कथम प्रश्न कैसे पाया अपने स्वरूप को कहते हैं इदम अपरोक्ष रूप से जाना यानी परोक्ष रूप से नहीं जाना अपरोक्ष रूप जाना इदम ब्रह्म मम आत्मा स्वरूपम मेरा स्वरूप यही ब्रह्म है ऐसा समझ मेरा स्वरूप ये है कि शरीर मेरा स्वरूप नहीं इदम ब्रह्म मम आत्मा स्वरूपम मेरा स्वरूप है ये हाँ, स्वरूपम अदर्शन इदम ब्रह्म अदर्शन इस ब्रह्म को मैंने देखा ये ब्रह्म क्या है भिन्नत्व ने अभिन्नत्व ने देखा मेरा स्वरूप को मैंने देखा ये ब्रह्म मेरा स्वरूप है इसको मैंने देखा ऐसा कहा अदर्शन मैंने दृष्टमान इसमें मैंने देख लिया था अहो इति विचारणार्थ प्लुति ही जो इतिम करके प्लुत कर रखा है ये प्लुत किया है किसके लिए विचार में विचारणायाम ऐसा सूत्र है विचार्यमाणाम ऐसा सूत्र है वाक्य सटे प्लुत उदात्त सूत्र के अधिकार में विचार्यमाणाम ऐसा सूत्र आता है वो प्लुत कर देता है जिसका विचार होना है वह प्लुत हो जाता है ऐसा कहा है तो यही प्लुत को लेकर के कहा अहो ऐसा कहा ठीक है सर स कदाचित इत्यादि का यदवा अथवा दूसरी प्रकार से व्याख्या करना इस मंत्र से पूर्व में जितने थे वो अध्यारोप था ये मंत्र से अपवाद शुरू होता है कहते सजाता आदि भी अध्यारोप में नहीं अपवाद में है दूसरी व्याख्या यदवा करके बोले यदवा सजात इत्यादि अपवाद ये मंत्र में सजातो भूतानी अव्यपेक्षक किम यह अन्यम बावदिशत यहां तक अध्यारोप कहा था पूर्व व्याख्या में और स एतम एव पुरुषम परमतम भविष्य इदम अदर्शम इति ये जो कहा था ये अपवाद रूप में कहा किंतु तो अब बोलते हैं ये मंत्र पूरा अपवाद के लिए तो दूसरी व्याख्या प्रकारांतर से व्याख्या करेंगे हर सजात इत्यादि अपवाद सजात इत्यादि जो मंत्र अपवाद में है अध्यारोप पहले थे पहले अध्यारोप प्रकरण पूरा हो गया ये मंत्र अपवाद में है कैसे यदवा सजात इत्यादि वादा तस्मिन पक्ष है एवं इस पक्ष में जब सजात आदि पूरे को अपवाद में लेंगे इस पक्ष में ऐसी योजना करना कैसे करना भूतानी व्याकरोत का अर्थ करना विविच करो पृथक पृथक किया पृथक किया तो अपने को अलग किया भूतों को अलग किया क्या समझे तो व्याकरोत का था पृथक किया व्याकरो माने विविच अकरोत पृथक करके पृथक किया माने भूतों को अलग किया अपने से अलग किया या ताजा जब तो भूतों को अलग किया तो अपवाद में आ जाएगा अपना स्वरूप में आ जाओ ये सिद्ध हो जाएगा क्या विचार किया उसने भूतों को पहले कैसे पृथक किया शरीर आदि को कैसे पृथक किया कहते किम ऐसा स्वतः सत्ता अस्ति ना यदि विचार हुआ इनके स्वतः सत्ता है कि नहीं शरीर आदि की जिनमें अहम बुद्धि मेरी हो रही है हाँ। जब अपने को अलग किया उसके बाद में भूतों को भूतों के विषय में सोचा क्या इनकी अलग सत्ता है या मेरे सत्ता में ही चीजें हैं रज्जु में भाषने वाला जो सर्प होता है उसकी पृथक सत्ता नहीं होती है वो रज्जु की लंबाई ही उसमें दिखाई पड़ता है हाँ। और रज्जु की जो मोटाई है वही सर्प में दिखाई पड़ना है रज्जु में जो का अस्तित्व जो है वही अस्तित्व सर्प में दिखना है उसकी अलग सत्ता नहीं होती कल्पित पदार्थ है जब विचार कर वैसे शरीर आदि की पृथक सत्ता हो नहीं सकती ये विचार में आएगा तो विचार किया क्या विचार किया कि ऐसा स्वतः सत्ता अस्थि नाम इन भूतों की शरीर आदि की परंतु तो मेरे से अतिरिक्त सत्ता है कि नहीं जो मेरे में कल्पित है क्यों सृष्टि के पूर्व मैं अकेला था आत्मा अभय इधम एक अग्रे आशित एकम विवाह द्वितीय नान्य कितनी ये के बोलना नहीं है मैं अकेला ही था अब बीच में सारे आए हुए हैं तो ये मेरे सिवा कुछ भी नहीं था वहां पर न तो मटेरियल था कुछ बनाने के लिए मैं अकेला ही था तो ये की सत्ता अलग है कि नहीं ये विचार किया स्थिति विचार कहा अच्छा और विचार करके क्या निष्कर्ष निकाला उसने किम अन्यम आत्म व्यतिरिक्त स्वतस्ता का भावविशद बोलूँ क्या आत्मा से अतिरिक्त सत्ता है ऐसा कहूंगा नहीं कह सकता रज्जु में जो तो बासने वाला सर्प का सत्ता रज्जु से अतिरिक्त सत्ता नहीं कर सकता कोई वो रज्जु के सत्ता से ही अस्तित्व पा रहा सर्पो अस्थि जो बोलते हैं वहां वो रज्जु के अस्तित्व है अधिष्ठान रज्जु है वहां ठीक इस प्रकार है तो विचार करके निष्कर्ष निकाला किम अन्य आत्मा व्यतिरिक्तम सत सप्ताह कंबावशत भविष्यामी क्या ऐसा कहूं न किंचित अभी आत्म व्यतिरिक्तम वक्तुम सपनोगी आत्मा से अतिरिक्त मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं क्यों सृष्टि के पूर्व में मैं अकेले आत्मा ही था तो ये अतिरिक्त कुछ नहीं ये तो अज्ञान से भाष रहे थे वस्तु ने यही समझा इतनी निश्चित ऐसा निश्चय किया एवं पदार्थ शोधन होते इस प्रकार से जो पदार्थ का शोधन करता है अलग अलग करके शोधन करता है भूतों को अलग करता है अपने को अलग करता है दो ही तो पदार्थ यहाँ है दो ही पदार्थ है एक भूत है पंचभूत एक तरफ है एक तरफ अपना स्वरूप है जो विवेचन कर दिया विस्तृत पृथक भावे विवेचन यानी विस्तृत धातु से विवेचन बनता है पृथक करने अर्थ मिलता है जो वस्तु जैसा अलग करो या भूतों को अलग करो चेतन को अलग करो जड़ को अलग करो इतना ही काम है जड़ चेतन विभाग करो यही है तो चेतन अंश अपना स्वरूप है जड़ अंश भूतों का है यही होगा एवं पदार्थ शोधन हो तो इस प्रकार से पदार्थ शोधन करने वाले व्यक्ति का ष्टंत है पदार्थ का शोधन एक भूत है एक आत्मा है दोनों का पदार्थ का विवेचन करने वाले का पदार्थ शोधन हो तो वाक्यार्थ ज्ञान महा जब पदार्थ का शोधन करेगा तो वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा तत्वशी आदि महावाक्य का ज्ञान हो जाएगा जब तत्पद का शोधन तुम पद का शोधन करेगा तत्वशी महावाक्य ज्ञान हो जाएगा जो वाक्यार्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञान कारण एकाएक वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा उस वाक्य में कितने शब्द आए हैं कितने पद आए हैं प्रत्येक पद का अर्थ यदि ख्याल न हो तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो सकता है प्रत्येक पद का अर्थ ख्याल होना चाहिए तो वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है तो इस प्रकार से जो पदार्थ का शोधन करने वाले का वाक्यार्थ ज्ञान होता है स कहा स जात स कदाचित इत्यादि शब्द है स कदाचित माने पदार्थ शोधन करके बैठा हुआ था तो वाक्यार्थ ज्ञान उसको हो जाएगा तत्व से सुनाने पर यह बोलना चाहते हैं स कदाचित परम के आचार्य आत्मज्ञान प्रबोधकृत शब्दिकायाम वेदांत महाभेव्याम इत्यादि कहा कर्णमूल्य कारिकायाम काड्यमानायाम इत्यादि है उसके कान के पास में जाकर के भाई जोर जोर से सुनाई दिया तत्व मशीन आदि आदि वाक्य ऐसा है मैं कहते हैं उपनिषद कांड से समुदाय से भेरी को कहते हैं जो वेद में तीन कांड है ज्ञान कांड अच्छा आचार्यवान पुरुषो वेद इति श्रुति है श्रुति में है गुरु के बिना ज्ञान नहीं होगा छांदों में कह दिया आचार्यवान पुरुषो वेद जो गुरु वाला होगा उसी को ही आत्मा का ज्ञान हो पाएगा बिना गुरु का नहीं हो सकता उसके लिए एक अंधा आदमी का आंख बांध करके चक्षु बांध करके बंधन में ले गया चोर ले गए कोई जंगल में जाकर छोड़ दिया ऐसे व्यक्ति को देखा वहां दृष्टांत दिया है एक अंधार नगर के रहने वाला व्यक्ति था खानदगर कहानी है तो उसको चोर आए लुटेरे आए आकर के आंख में पट्टी बांध दी पट्टी बांध करके उठा के ले गए अपहरण करके ले गए उसको ले गए बड़े दूर कहा जंगल में पहुंचा करके छोड़ दिया उसको छोड़ दिया लुटेरे अपना जो गुस्सा लेके चले गए अब वो चिल्लाता रहा कोई मेरी आवाज सुनता हो तो मुझे बचाओ और क्या उसके बाद आवाज ही और कुछ नहीं है आंख में पट्टी बंधी हुई है कहां पहुंचा है पता भी नहीं चिल्लाता रहा तो कोई व्यक्ति ने उसकी आवाज की सुनी सुना तो उसके पास गया जाकर के उसके आंख में पट्टी खोल दी खोलने के बाद पूछा तुम तो कौन हो कहाँ के हो तो उसने अपना परिचय दिया मैं कांधार का रहने वाला हूं और मुझे चोरों ने इस तरह से लुटेरों ने लाया आंखें पट्टी बांध करके अपहरण करके लाए मुझे पता नहीं मेरा गांव कहाँ कहाँ जाना है तो वो व्यक्ति समझदार था अब वो कांधार बहुत दूर था और जंगल में रास्ता बताना है तो कैसे बताएगा रास्ता भी नहीं है किंतु वो समझदार था उसने कहा इस दिशा में जाना दिशा ज्ञान करा कांधार इस तरफ है एक दिशा ज्ञान करा दिया और वो बुद्धिमान व्यक्ति था गुरु जी ने जैसा बताया था जिस दिशा को बताया उस दिशा में जाता जाता जाता और आगे जाके पूछता हुआ गया अपने देश पहुंच गया ऐसा दृष्टांत है आचार्यवान पुरुषों दे रहा ऐसा गुरु वाला ही जान सकता है उसको वो व्यक्ति नहीं मिलता तो अपने देश का ज्ञान नहीं होता इसी प्रकार हम भूल भुलाइए में हैं हमें भी काम क्रोध लोह मोह आदि ने लूट करके लाया है यहाँ संसार में लाया हुआ है निपेदन को फंदे में हम पड़े हुए हैं तो हमें कोई गुरु मिल जाए उनके उपदेश मिल जाए तो हमारे लिए अपना रास्ता मिल सकता है ये कहना चाहते हैं आचार्यवान पुरुषों वेद इति श्रुते छांद में ऐसा कहा है जो गुरु वाला होगा वही जैसा आपका पुत्र को जान सकता है तेल बिना वाक्य वाक्यार्थ ज्ञान संभव नहीं है गुरु के बिना आचार्य के बिना तत्वशी आदि महावाक्य का ज्ञान स्वतः हो नहीं सकता है इसलिए यदि <clears throat> अभिप्रत्या एक कहा परम कारुणिके में कहा परम दयालु आचार्य आचार्य के द्वारा जब उसके कान में नगारा पीटा जाएगा वेदांत रूपी नगारा शब्द सुनेगा वो पीटना पर ये कहते हैं आचार्य ना आत्मज्ञान प्रबोधकृत ऐसे नगड़ा है वो आत्मज्ञान को जगाने वाली नगड़ा है ऐसा नगड़ा ही है शब्द का आयाम शब्द करने का उपनिषद कांड से समुदाय से वेद स्थान वेद में तीन कांड है कर्मकांड भाग उपासना कांड भाग उपनिषद का ज्ञान कांड भाग ज्ञान कांड भाग को उपनिषद कांड कहते हैं यह है यहाँ भेद स्थान में नगाड़े के स्थान में उपनिषद वाले प्रकरण है उपनिषद पढ़ा दिया उसको ये अर्थ आएगा उपनिषद कांड से समुदाय से पूरे समुदाय उपनिषद कांड भेद स्थान तो नगाड़ा के स्थान में है यह संसार रूपी इसमें सोए सोने वाले के लिए जगाने वाला नगा है नगाड़ी के स्थान में है तदगता नाम उस वेदांत में जो वाक्य आए हैं तत्वशी आदि वाक्य वो उपनिषद में आए हैं तदगता नाम तत्वमसी इत्यादि वाक्या नाम जो उपनिषद भाग में आए हुए महावाक्य है तत्वमसी अहम ब्रह्माष्टमी अयब आत्मा भेद प्रज्ञानम ब्रह्म आदि महावाक्य है तत्वशी आदि वाक्या नाम प्रबोधजनक तुम क्या उसको ज्ञान कराने वाला शब्द शब्द यही शब्द होगा तत्वमसी आदि शब्द होगा वो ज्ञान अपना स्वरूप का पहचान कराने वाला शब्द है ये तत्वमसी आदि शब्द जब उपनिषद को पीटते पीटते बाकी तत्वमसी आदि आ गए नगालप न जाने पर तत्वमसी कैसे शब्द निकला क्या है अपना स्वरूप को डराने वाला शब्द है तत्वमसी आदि ऐसा जानना चाहिए था आगे पूरी सयानम आया ये जो ऐसा नगाड़ी पीट देने पर इसी सृष्टि आदि कर्तृत्व तो पुरुष को भी भीतर रहने वाला आत्मा से पाया पहले तो परोक्ष रूप में सृष्टि आदि कर्ता रूप से आत्मा को जाना था ईश्वर रूप से जाना था किंतु अभी जब यहां प्रविष्ट हो गया तो भीतर ही पाया उसने वही परमात्मा मैं हूं ऐसा ज्ञान हो गया एक पूरी शयान कहा मूर्धन्य द्वारा प्रविष्ट पूरी में कैसे शयान करता रहता है मूर्धन्य मुर्दा से प्रवेश करके मुर्दा में नाड़ी है उस नाड़ी से प्रवेश करके आया आया हुआ प्रवेश करके सुहाया हुआ आत्मा को प्राप्त किया एक तकार लुप्त है कहते तत तमम होना चाहिए तीन तकार होना तम विस्तार है धातु से निष्ठा प्रत्यय करने पर ततः शब्द बनता है विस्तृत को ततः बोलते हैं ततः और आगे तमक प्रत्यय लगेगा अतिशय तमक तम पृष्ठ तो तत तमम होना तीन तकार होना चाहिए मंत्र में दो ही तकार है ततमम दिया है ये तकार लुप्त किया है कहा तेरह सहा एक तकार लुप्त करके रखा हो उसके सहित लेकर के तततमम हो जाएगा पाठ ये कहा तततमम भाष्य में लिखा है किम परोक्ष ज्ञातम पृथ्वी प्रश्न उठता है क्या परोक्ष रूप से जाना अपने को शब्दजन्य ज्ञान जो होता है परोक्ष होता है देखा है जैसे स्वर्गो अस्थि ऐसा सुना स्वर्ग है प्रत्यक्ष नहीं होता शास्त्र जन्य ज्ञान परोक्ष होता है शब्द है शब्द सुन करके जो ज्ञान होगा परोक्ष ज्ञान होगा अपरोक्ष नहीं होगा ऐसा कुछ मत है किंतु पदपादाचार्य जी का कहना है यदि वस्तु सन्निहित हो तो शब्द जन्य ज्ञान भी अपरोक्ष होता है वो वस्तु यदि निकट में हो सन्निहित हो तो इसमें तत् स्तोमसी आदि का दृष्टांत है दस व्यक्ति कई यात्रा में जा रहे थे नदी पार कर रहे थे तो पार जाने के बाद में उनके मन में आया भाई नदी में कोई बह तो नहीं गया तो जरा गिनो तो गिनने लगे एक ने गिना एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ सामने गिन पाया अपने को भूल गया उसके दृष्टि में नौ व्यक्ति हैं दूसरे ने गिना वही स्थिति होगी नौ ही निकले वो अपने को भूल जाता है गार्ड बाकी को गिनता अपने को भूल जाता है करके सभी ने गिना सभी के दृष्टि से नौ व्यक्ति से हो गए एक बह गया उनके दृष्टि में व्यक्ति है वहां गिनने में गलती हो रखी है तो बह गया एक व्यक्ति हमारे साथ ही बह गया रोने लग गया अब कौन बहा यह भी नहीं पता है किंतु एक कहा गया क्यों गिनती में आया नहीं दस आए थे अभी नौ मिल रहे हैं इसका मतलब बढ़ गया एक रोने लग गए नीचे से एक बुद्धिमान व्यक्ति आ रहा था वो बुद्धिमान था उसने देखा ये क्यों रो रहा है तो गया क्या बात है क्यों रो रहा है वो तो उन्होंने बताई कहानी हम दस व्यक्ति आए थे ये नदी पार करते समय एक भाग गया हमारा साथ तो उसने देखा व्यक्ति तो दस पूरे हैं यहां इनके कुछ भूल भुलैया है ऐसा लगा उस व्यक्ति को तो उसने कहा दसमो अस्थि ऐसा बोल दिया दसम है तो ये परोक्ष ज्ञान हो गया जब सुने दसमो अस्थि सुना दसम व्यक्ति है तो उनको लगा ये नीचे से आ रहा है तो बह के गया है नीचे इसने कहीं किनारा लगा देखा होगा परोक्ष ज्ञान हो गया उनको अपरोक्ष नहीं हुआ किंतु फिर उन्होंने पूछा कहाँ है वो व्यक्ति हमारा व्यक्ति ससमो अस्थि सुनने के बाद पूछा तो मैं कहा मेरे सामने एक बार गिनो तो वैसे गिनने लगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ रुक गई ये नौ हो गया ना हाँ दशमस ये नौ है दसम तुम ये जो दशमस सुनता है जब तो उसको मैं दसवा हूं ऐसा परोक्ष ज्ञान होगा कि अपरोक्ष ज्ञान होगा अपूर्ण शब्दजन्य ज्ञान है उस व्यक्ति के शब्द से ज्ञान हुआ है दसमस्तमसी शब्द से विषय स्वयं था वो सन्निहित विषय होने पर शब्दजन्य ज्ञान भी अपरोक्ष होता है यहां भी वैसा ही है तत्वसी आदि में स्वयं है विषय इसलिए अपरोक्ष ज्ञान होता है परोक्ष ज्ञान नहीं होता नहीं तो शब्दजन्य ज्ञान सामान्य रूप से परोक्ष होता है जैसे स्वर्ग अस्थि स्वर्ग है परोक्ष ज्ञान है किंतु तत्वसी आदि जो महावाक्य सुनने पर जो तो वही तुम हो करके कहा जा रहा है जो सुनने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो यही है वही है इसलिए क्या होगा अपरोक्ष का होता है परोक्ष नहीं होता तत्व तो ऐसा होता है माने इसमें वाचस्पति मिश्र का और परपादाचार्य जी का कुछ मतभेद होता है वाचस्पति मिश्र बोलते हैं शब्दजन्य ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही होता है तत्वमसी तो से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा परोक्ष ज्ञान होगा उसके बाद मनन निधिध्यासन करेगा श्रवण के बाद मनन और निध्यासन होने पर अंतिम में जाकर के उसको अप्रोक्ष ज्ञान होगा निध्यासन करते करते करते हो जाएगा शब्द जन्य ज्ञान जो होता है परोक्ष होता है ये बाचस्वती विश्व का धर्म है किंतु पद्म पादाचार्य जी कहते हैं नहीं यदि विषय संहित हो तो शब्द जन्य ज्ञान भी अपरोक्ष होता है जैसे दसमस तोमस अपरोक्ष होता है तो इस स्थिति में क्या होगा जब श्रवण से परोक्ष ज्ञान होता हो शब्दजन्य होने के कारण तत्वशी आदि श्रवण से परोक्ष होता हो तो वाचस्पति मिश्र के मत में मनन निर्द्यासन सार्थक दिखाई दे रहा है उसके बाद मनन करेगा फिर निध्यासन करेगा और चरम ज्ञान अंतिम ज्ञान अपरोक्ष होगा वहां दोनों ठीक लग रहे हैं पदम पादाचार्य जी के मत से मनन निध्यासन की आवश्यकता नहीं दिख रही है जब श्रवण काल में अपरोक्ष ज्ञान हो गया तत्व तो में से सुना तो अपरोक्ष हो गया तो मनन और निध्यासन क्यों करेगा क्या आवश्यकता है उसको ये प्रश्न उठेगा उसका उत्तर होगा पहले दृढ़ नहीं था ज्ञान अदृढ़ हल्का फुल्का ज्ञान हुआ था अपरोक्ष था किंतु उसको दृढ़ करने के लिए साधन है मजबूत कर कोई भी ज्ञान होगा एकाएक विशेष नहीं होता सामान्य ज्ञान होगा पहले उसको विशेष करना है इसके लिए मनन निध्यासन चरितार्थ हो जाएगा तो शब्दजन्य होने पर भी अपरोक्ष होता है इसलिए इदम तया उसने देखा एक कहते जान जाना समझा ये कहा इदम ब्रह्म मम आत्मना स्वरूपम आदर्शम दृष्टमान ये मेरा स्वरूप है ब्रह्म जो सृष्टि के पहले यही तो था ना और कुछ नहीं था तो ये मेरा स्वरूप यही ब्रह्म ही है यही इस रूप से उसको देखा जाना देखा उसी को मैं देखता हूं ऐसा कहा अहो करके देखा कहा मैं भूतों के चक्कर में होकर के मैं मनुष्य हूं कह रहा था आश्चर्य अब आश्चर्य होता है उस काल में किस पचड़े में पड़ गया था मैं व्यापक सच्चिदानंद घर ब्रह्म होकर के मैं अपने को साढ़े तीन हाथ का परिमाण वाला बता रहा था आश्चर्य अपने को आश्चर्य लगेगा उस काल में ये आश्चर्य पूर्वक ये क्लूत करके बोला अहो ऐसा कहा क्लूत दिखाया ज्ञानकालीन बात है कहा मैं मनुष्य भाव में अपने को समझता था आश्चर्य द्योतक दिखाया ये कहा टीका कथम तस्य कृतार्थता प्रख्यापकेना वाक्यना तस्य अपरोक्षत्व मित्र वो जो कृतार्थता का प्रख्यापन करने वाला वाक्य है कौन क्लूत जो किया ना अहो करके कहा मैं कृतकृत्य हो गया वो अपने स्वरूप को मैंने देख लिया जान लिया ऐसा समझता कृतकृत्यता तस्य था ख्यापन है ना ख्यापन ख्यापक है ना वाक्य ना तस्य अप्रोक्षक तत्वशी सुना वो वाक्य अपने कृतार्थ का ख्यापन करता हुआ कहता है अपरोक्षत बताता है इदम करके बोलता है इदम ब्रह्म मम आत्मा स्वरूपम आदर्शम दृष्टिमान मैंने अपने स्वरूप को ही देखा अब ऐसा मानता है इति इति प्लुतेर अर्थ इति करके अंतिम में प्लुत कर दिया वो जो तीन नंबर अंक दिया है प्लुत का चिन्ह है हाँ, मंत्र में जो इति का वहां तो अनुनाशिक प्रक्रिया अनुनाशिक ऐसे प्रक्रिया संज्ञा करके अनुनाशिक बना रखा है किंतु इति जो किया है प्लुत है वहां वो प्लुत किस लिए ये कहते हैं इति इति प्लुतेर अर्थ महा मंत्र के अंत में इति शब्द है वो प्लुत है तो इकार पुलुत कर रखा है तो उस पुलुत का अर्थ बताते हैं अहो बोलते हैं आश्चर्य का जनक अरे मैं ऐसा कहा मैं मनुष्य भाव में पड़ा हुआ था मेरा स्वरूप ऐसा व्यापक ब्रह्म ऐसा आश्चर्य का द्योतक है कहा विचारणार्थ प्लुति पूर्वम इति विचारणार्थे प्लुते ये कहते हैं व्याकरण में विचारणार्थ में विचार करने में क्या होता है प्लुत होता है विचार्यमाणा नाम ऐसा सूत्र है व्याकरण में वाक्य श्रेटे पुलुत उदात सूत्र अधिकार में विचारी माना नाम ऐसे सूत्र आता है या विचार करना हो जिस विषय में वह पुलुत कर दिया जाता है ऐसा है विचारार्थ प्लुति ही पुलुत माने पुलुत पुलुति का था पुलुत यदि विचारणार्थे पुलुतर विहितत्वाद विचारणार्थ में पुलुत का विधान किया है पाणनीति ने नाम सूत्र के द्वारा जो की टिप्पणी कहते हैं विहित विचार्यमाणानम इस सूत्र है विहित किसे किया विचार्यमाणानम सूत्र है पाणी जी का उस सूत्र से कहा पुलत्या सम्यक ब्रह्म ज्ञातम नवा इति विचारिया ये पुलुति जो पुलुत दिया है इति में जो पुलुत किया है क्योंकि हाँ, आज का स्वरूप तीन प्रकार होता है हर सूत्र का पुलुत इति प्लुत किया है तो सम्यक ब्रह्म ज्ञातम नवा ये विचार किया सम्यक ज्ञात मुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ ये विचार्य सम्यक ज्ञात की निश्चित किया सम्यक प्रकार मुझे ज्ञान हो गया अपने स्वरूप का ऐसा निश्चय करके तब अहो कहता है हाँ, मैं इतना बड़ा आदमी होकर के कहा मैं शरीर रूपी पीरियड में पढ़ करके इसके तक करना पड़ा था मैं मनुष्य हूं बोल रहा था अहो ये स्वस्थ कृतार्थत्व प्रख्या अपने कृतार्थता जो कुछ करना था प्रयोजन प्राप्त हो गया ऐसा समझ करके मानता है कि अहो शब्द के द्वारा ये के द्वारा ये कहा कुलत्या में तीन नंबर टिप्पणी दिया पूर्वम इत्य पूर्वान्वयी भ्रांत्या व्याचे कहते हैं जो पूर्वम शब्द है ना विचारार्थ पुलती पूर्वम पूर्वम पूर्व के साथ अन्वय की भ्रांति से व्याख्या करते हैं नहीं पुलत्या सम्यक ब्रह्मव्यापन इत्यादि कहा वस्तुतस्तु पूर्वम यस्माद उत्तरान्वयी जिसके पूर्व में है ऐसा अन्वय किया जाता है यस्मात पूर्वम जिससे पूर्व में है वह पुलुत के पूर्व में मंत्र में शब्द है ऐसा करना था अच्छा आगे मंत्र है तस्माद इदंद्रो नाम इदंद्रो हवई नाम तम इरंद्रम संतम इंद्र इतिया चक्षते परोक्षेण परोक्ष प्रिया इव ही देवा परोक्ष प्रिया इव ही देवा तस्मात् नाम इदंद्रोह वै नाम तम इदन्त्रम् सतम इंद्र आचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवः परोक्षप्रिया इव हि देव तस्मा इदम अदर्शम ऐसा कहा है इदम दृष्टवान अस्मि इदम आगे दृष्ट धातु का प्रयोग है तस्मात इदंत्रो नाम इदम आगे दृष्ट का रूप बना दिया द्र इदम द्र इदम दृष्टवान ऐसा कहा था इदम अदर्शन था इदम आगे दृष्ट धातु था इसलिए द्री लेकर के इदंत्र बना रखा है इदम इदम द्र इदंत्र इदंत्रो नाम इदंत्र नाम है परमात्मा का नाम इदंत्र होता है इदम रूप से देखा है इसलिए उसका नाम इदंत्र है इदम रूप से पाया है अपरोक्ष रूप से पाया है इसलिए इदंद्र नाम है परमात्मा तस्मात इदंत्रो नाम इदंत्रो हवाई नाम इदंत्र नाम वाला है वो परमात्मा तम इदंत्रम संतम इंद्र की आचक्ष परोक्षण है तो इदंत्र है वो माने इदम रूप से देखा है इसलिए उसको इदंत्र बोला गया इदम अदर्शम ऐसा पूर्व मंत्र था इदम रूप से उसको देखा जाना इसलिए इदंद्र नाम है उसका किंतु वो इदंद्र होता हुआ भी इंद्र इति आचक्षते वेदांति लोग उसे इंद्र शब्द से कहते हैं इदंद्र को इंद्र शब्द से बोलते हैं क्यों परोक्षेण परोक्ष नाम है जो अपने से बड़े होते हैं उनका नाम नहीं लिया जाता है नामांतर से बोला जाता है आत्मनाम नाम नामाति कृपण से श्रेयस काम न ज्येष्ठा प्रत्येक अलग कर ऐसा कहा है जो श्रेय चाहने वाला व्यक्ति कल्याण चाहने वाला व्यक्ति होगा अपना नाम नहीं बोलेगा आत्मनाम अपना नाम नहीं बोलना चाहिए आत्मनाम गुरु नाम गुरु का नाम ही उच्चारण नहीं करेगा आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपण से अति कृपण व्यक्ति का नाम भी उच्चारण न करे अति योगी होगा कृपण होगा कंजूस उसका भी नाम ना ले श्रेय चाहता हो और आत्मनाम गुरु नाम नामाति कृपण से चाह श्रेयस कामो न गृहणीया जो कल्याण चाहने वाला ये नाम ग्रहण न करे और ज्येष्ठापत्य अलग रहे अपने बड़े पुत्र का नाम भी न ग्रहण न करे ज्येष्ठापत्य बड़ा पुत्र और कलत्र माने पत्नी का नाम भी ग्रहण न करे श्रेय चाहने वाले व्यक्ति ऐसा इसलिए यहां पर वो है तो इंद्र नाम है इदंद्र नाम है फिर भी वेदांति लोग उसको इदंद्र न बोल करके परोक्ष नाम से दूसरे नामांतर से बोलते हैं इंद्र नाम से बोलते हैं इंद्र नाम से कहते हैं है तो इदंद्र नाम है किंतु बड़े का नाम नहीं लिया जाता है इसलिए इदंद्र न बोल करके इंद्र कहते हैं परोक्ष नाम है परोक्ष प्रिय ये वही देवा कहा जो बड़े लोग होते हैं परोक्ष प्रिय वाले होते हैं गुरु का नाम नाम जो होगा नहीं लेना आचार्य जी कहेंगे तो खुश हो जाएंगे उनका नाम लेंगे तो नाराज हो जाएंगे मैंने दूसरे नामांतर से बोलना जो नाम प्रसिद्ध है वो नहीं लेना परोक्ष नाम प्रिय होते हैं बड़े लोग परोक्ष प्रिया वही देवा परोक्ष नाम प्रिय वाले होते हैं देव माने यहां बड़े लोग परोक्ष क्रिया योग देवा एक, एक अध्याय पूरा हो गया है इसलिए यहां दो बार बोल दिया ठीक है कहते हैं तस्य इदंद्र नाम प्रसिद्ध्याति तस्य माने परमात्मा उस आत्मा का इदंद्र नाम है क्यों साधक ने जब देखा आत्मा को देखा पाया किस रूप में इदम अदर्शन यही पूर्व मंत्र के अंतिम में है इसी ब्रह्म को मैंने देखा इदम अदर्शन इदम और दृश्य लगा करके इदंद्र बनाया इसको मैंने देखा ऐसा बोल करके इगंद्र बोला है तस् इंद्र नाम प्रसिद्ध है उस परमात्मा का नाम इदंद्र प्रसिद्ध होने पर भी तस् ज्ञान से अपरोक्षितम इतम तस्मात इदंद्रम इति वाक्यम तथ्याचरेगा उसका ज्ञान अप्रोक्ष होता है इदम इदम तो ज्ञान होता है मैंने परोक्ष रूप से नहीं ये कहा इसलिए तस्मात इदंत्र वाक्यम व्याचे इदंत्र जो वाक्य है उसके व्याख्या करते हैं कहा यस्माद इत्यादि कहा यस्मात भाष्य में यस्मात इदम इतम यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यस्मात इदम इदम से कहा जो साक्षात अपरोक्ष होता है उसको ब्रह्म कहा गया देखिए हम घट को देखते हैं अपरोक्ष ज्ञान होता है अजम घट ज्ञान हो रहा है अपरोक्ष कहते हैं किंतु साक्षात अपरोक्ष नहीं है बीच में इंद्रिय का व्यवधान है इंद्रिय के माध्यम से देखते हैं चक्षु के माध्यम से घट को देखना चक्षु न हो तो घट का ज्ञान नहीं होगा और साक्षात नहीं है घट का ज्ञान परंपरा से ज्ञान होगा हमारे संबंध इंद्रिय के साथ इंद्रिय का संबंध घट के साथ परंपरा से हम पहुंचते हैं साक्षात नहीं पहुंचता तो इंद्रिय में पहुंचने के लिए भी सबसे पहले हमारा संबंध बुद्धि में होगा महातत्व के साथ हमारा संबंध है और फिर वो बुद्धि का संबंध मन में होगा और मन का संबंध इंद्रिय में होगा इंद्रिय का संबंध शरीर में होगा शरीर का संबंध विषय में होगा ये परंपरा है तो ये सब परंपरा से अपरोक्ष होते हैं मान बाह्य विषय तक हम अपरोक्ष करें किंतु अपने लिए किसी की आवश्यकता नहीं जो दूसरे के माध्यम से होता है वो परंपरा से अपरोक्ष होने वाले हैं और किसी के बिना ही स्वतः ज्ञान हो वो साक्षात अपरोक्ष है अपने जानने के लिए किसी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है अंधा आदमी हो तब भी अधेरे में पड़ा हो तब भी बोलता मैं हूं कहता है इंद्रियों की आवश्यकता नहीं अपने जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता बाहर विषय जानने के लिए अपने स्वयं को जानने के लिए इंद्रिय की आवश्यकता नहीं यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मा ऐसा आया जो साक्षात अपरोक्ष होता हो वो ब्रह्म है साक्षात अपरोक्ष होता हो वो ब्रह्म होता है माने अपना स्वरूप वही होता है माने दूसरे किसी इंद्रिया इंद्रियों के बिना स्वतः ज्ञान जिसका हो जाता है अपने ज्ञान के लिए किसी आवश्यकता नहीं क्यों जिस विषय को आप सिद्ध करना चाहते हैं वो आप पहले होंगे तभी तो विषय को सिद्ध करेंगे नहीं ये घट है सिद्ध करूंगा ये कहने वाला व्यक्ति पहले होगा शुरू में होगा उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता है प्रमाण तो बाद में पैदा होगा मैं अमुक प्रमाण से अमुक विषय को सिद्ध करूंगा ऐसा बोलने वाला व्यक्ति पहले मौजूद होगा तो आत्मा के लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं जो साक्षात अप्रोक्ष होता है ब्रह्म होता है वो आत्मा होता है सर्वांतर होता हो सर्वांतर अपश्यत ऐसा साक्षात ब्रह्म रूप से सर्वांतर भाव से देखा इदम रूप से देखा अपरोक्षेण अपरोक्ष रूप से देखा इदम इदम अपरोक्ष होता है सामने तत् शब्द परोक्ष होता है दूर के लिए होता है तत् दूर के लिए होता है इदम प्रत्यक्ष के लिए होता है प्रत्यक्ष रूप से देखा इसलिए अपरोक्ष रूप से देखा है उसने तस्मात इदम पश्यति इति रहा इसको देखता है मैंने अपरोक्ष करता है देखता अपरोक्ष देखता है इसलिए इदंद्र नाम पड़ा है परमात्मा इदम इदम पश्यति में एक नंबर टिप्पणी दिया सकलम इदम तया अपरोक्ष पश्यति सारा संसार को इदम रूप से जानता है यही है जो कुछ है यही है अधिष्ठान ही है ऐसे रूप से जानता है सब कल्पित मान करके आत्मा को जानता है इदम रूप से जानता है सकलम सकल संसार को इदम तया अपरोक्षतया पश्यति जानाति सर्वज्ञ सर्वज्ञ है इदम दीपिकायाम तो इदम दृष्टम इतम कर्म प्रत्या व्याख्यातम दीपिका में इदम दृष्टम करके कर्म रूप से माने कर्ता रूप से व्याख्या नहीं किया है कर्म रूप से व्याख्या किया है कहा राष्ट्र में कहते हैं इदंद्रो हवाई नाम प्रसिद्ध लोके ईश्वर लोक में जो बड़े लोग होते हैं इदंद्र शब्द से प्रसिद्ध है लोक में यही बोलते हैं इदंद्र कहते हैं परमात्मा तम एवं इदंद्रम संतम है तो परमात्मा इदंत्र है इदम रूप से दृष्टम अदर्शम इदम अदर्शम कहा था इदम रूप से देखा है इसलिए अपरोक्ष रूप से देखा है इसलिए इदंत्र नाम है इदंत्र होने पर भी संतम संत इदंद्रम संतम इंद्र इति परोक्षेण इंद्र शब्द से कहते हैं लोग परोक्ष रूप से कहते हैं नाम तो इदंत्र है किंतु उसका पूरा नाम नहीं लेते इंद्र बोल देते हैं लोग क्यों परोक्ष अभिधान है ना आचक्षते परोक्ष कथन के द्वारा कथन करते हैं परोक्ष रूप से कथन करते हैं इंद्र शब्द से कथन करते हैं ब्रह्मविदा कौन ब्रह्मविद्ता लोग इंद्र बोलते हैं परमात्मा को संव्यवहारार्थम उसको व्यवहार में लाने के लिए शब्द व्यवहार तो करना ही है वहां व्यवहार दो प्रकार का होता है एक तो क्रिया रूप व्यवहार और एक शब्द रूप व्यवहार शब्द रूप व्यवहार तो ब्रह्म में करना ही है तो व्यवहार में लाने के लिए इंद्र शब्द से कहते हैं पूज्यतमत्वात् प्रक्ष नाम प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भया हाँ, पूज्य है अतिशय पूज्य है तो प्रत्यक्ष नाम ग्रहण में डर लगता है क्यों बड़े का नाम नहीं लेना चाहिए आत्मनाम गुरु नाम नामादि कृपण से श्रेयस काम अनुग्रहणियात यष्टापत्य कलत्र ऐसा कहा है बड़े का नाम नहीं लेना चाहिए नामांतर से अन्य नामों से बोला जाए ऐसा होता है टीका में कहते हैं तस्मात सर्वांतरम क्यों साक्षात अपरोक्ष होता है इसलिए सबके भीतर वही है सर्वांतर है वो माने शरीर के भी भीतर शरीर के भीतर इंद्रिया इंद्रियों के भीतर मन मन के भीतर बुद्धि बुद्धि के भीतर भी वो आत्मा है सर्वांतर सबके भीतर जो बैठा है वो आत्मा होता है बुद्धि सबके भीतर है आत्मा से बाहर है मन आत्मा और बुद्धि से बाहर है इंद्रिय आत्मा मन बुद्धि मन आत्मा बुद्धि मन से बाहर है और शरीर आत्मा बुद्धि मन इंद्रिय से बाहर है और ये बाहर बाह्य विषय और बाहर है सर्वांतर है सबके भीतर सबसे भीतर जो पंचकोश के भीतर बोलते हैं वो सबसे भीतर सर्वांतर है सबके भीतर में है सबसे भीतर में है ऐसा है तस्मात सर्वांतरम ब्रह्म जो सर्वांतर सबसे भीतर रहने वाला ब्रह्म है उसको नित्यम एवं अपरोक्षण नित्य अपरोक्ष रूप से जानता है अहम प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्मा इतम अपश्यत यही आत्मा है वो ब्रह्म यही आत्मा है इस रूप से देखा साधक जग जाता है तो ऐसा मानता है बिगड़ा हुआ अवस्था है मैं मनुष्य हूं कहना साधक ने अभी बाधक बन के चल रहा है मैं मनुष्य हूं कहना बिल्कुल गलत है दूसरे को दूसरे बोल देना अन्यथा संतमात्मान अन्यथा किमते न कृतम पापम चौरेणा जाता तो अन्यथा अन्य आत्मा का स्वरूप कुछ और है और अन्य प्रकार बोलता है मैं मनुष्य होकर के बोल रहा है उस पापी ने क्या पाप नहीं किया है वो तो आत्मा को अपहरण करने वाला पापी है वो मनुष्य रूप में दिखा रहा है तो तस्मा सर्वांतरम ब्रह्म इदम ये ब्रह्म सर्वांतर है सबके जो सबसे भीतर है वो ब्रह्म है बुद्धि के भी भीतर वही है सबसे भीतर है या ढूंढते ढूंढते जाते जाते जाते सबसे भीतर जो मिलेगा वो आत्मा है ये बाहर के छिलके को हटाना अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय को हटाने पर वहां पहुंचना है प्रत्येगात्मा इति एवं अपश्य कथम इदंद्र नामत्व अतः वो इदंद्र नाम कैसे पड़ गया परमात्मा का हाँ, इदम अदर्शम ऐसा पूर्व मंत्र में है उसको लेकर के इदंद्र होगा तब तो कहते हैं इदंद्रो हवा हवई नाम प्रसिद्धो लोके ईश्वर लोक में इदंद्र शब्द से कहते हैं लोग उस परमात्मा को इदंद्र बोलते हैं ऐसा कहा आगे शंका है नो इंद्रो माया भी इत्यादो इंद्र प्रसिद्ध हो न तो इदंत्र इत्यता इंद्रो माया भी गुरुरूप ईयते इत्यादि स्मृतियों में इंद्र शब्द से तो कहा है इंद्र माने परमात्मा है वहां देवराज इंद्र नहीं है जो माया के द्वारा अनेक होने वाला परमात्मा होता है वहां इंद्र शब्द का सर्वत्र इंद्र नहीं यह जो श्रुति में इंद्र शब्द आया इंद्रो माया भी ईयते इंद्र माने परमात्मा है अपने माया शक्ति के द्वारा ये सारे रूप हो जाता है ये सारा रूप बन जाता है ये परमात्मा माया से बना है ये सब परमात्मा ही तो बना है ये रज्जु सर्प रज्जु ही तो बनती है और क्या बनेगा रज्जु ही है वो सर्प रूप में होना है वो माया से रज्जु सर्प बनना है माया भी अपने माया से रूपांतर दिखाता है वैसे परमात्मा का रूपांतर है सब ये क्या रूप है इंद्रो माया भी पुरुषते इत्यादि में देखा इंद्रो माया भी इत्यादि इंद्र इति प्रसिद्ध है इंद्र शब्द प्रसिद्ध है परमात्मा का नाम इंद्र शब्द से तो कहा स्तुतियों में किंतु इदंद्र तो कहीं है ही नहीं कहां से यहां इदंद्र नाम आ गया ये शंका आगे तो कहा तम एवं इदंद्रम संतम इंद्र इति परोक्षेण परोक्षाभिधान आचक्षते ब्रह्मविदा संव्यवहारथम कहा वो है तो इंद्र है इदंद्र होते हुए इंद्र कहते हैं लोग व्यवहार के लिए इंद्र बोलते हैं जो परोक्ष नाम है माने जो नाम था इदंद्र वो न लेकर के नामांतर से बोला बोलते हैं लोग ऐसा कहा क्यों अथवा प्रत्यक्ष नाम ग्रहण भयाद का माने जो नाम जैसा है उसको लेने में डरते हैं लोग पूज्य लोग हैं बड़े लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए आगे कहते हैं इंद्र से एवं सता इदंत्र से एवं सता है तो इदंत्र है वो इंद्र नहीं है इदंत्र नाम है क्यों इदम तो ने देखा है इदम अदर्शम ये पूर्व मंत्र के अंतिम है इदंत्र होता हुआ परोक्षत्वार्थम अक्षर रूपेण परोक्ष बनाने के लिए अक्षर लोप कर दिया वहां पर ईदंत्र में ईद का लोप कर दिया ईदंत्र था ईदम का लोप कर दिया इंद्र रख दिया परोक्ष परोक्षता के लिए पर नाम पूरा नाम होने पर अच्छा नहीं लगेगा उनको इसके लिए अक्षर लोपे न इंद्र इत्या करता परोक्षोक्ति प्रयोजन आह परोक्षोक्ति में कथन में प्रयोजन क्या है तो कहा <clears throat> पूज्यतमत्वाद प्रत्यक्ष नाम ग्रहण गया तो बड़े लोग हैं परमात्मा सबसे बड़ा है तो उसका प्रत्यक्ष नाम लेना गलत होता है ये कहा आगे टीका में कहते हैं नाम परोक्षतया नाम वक्तव्य कर प्रमाण जो पूज्य लोग होते हैं बड़े लोग होते हैं उनको परोक्ष रूप से नाम कहना चाहिए जो नाम है सीधा नहीं बोलना चाहिए तथा ही करके भाषण तथा ही परोक्ष प्रिया परोक्ष नाम ग्रहण प्रिया वही ये वही यस्मात देवा कहा जो बड़े लोग होते हैं परोक्ष नाम प्रिय मानते हैं जो अपना नाम होगा वो नहीं मानते प्रिय अच्छा नहीं मानते क्यों सर्वदेवा नाम है परमेश्वर जो देवता लोग सामान्य देवता भी परोक्ष नाम अच्छा मानते हैं ये तो सब देवताओं का देवता है देवों का देव महादेव है तो आत्मदेव है तो ये सर्वदेवानामक देवो महेश्वर सब देवों का देव महेश्वर है ये तो इसको कैसे वो ये नाम अच्छा लगेगा इसलिए परोक्ष नाम का द्विर्वचन प्रकृत अध्याय समाप्त में कहा ये दो बार दो बोला परोक्ष प्रिया ये वही देवा परोक्ष क्रिया क्या है एक अध्याय समाप्ति का द्योतक है अच्छा टीका में कहा देवा माने पूज्या जो पूज्य लोग होते हैं परोक्ष नाम प्रिय वाले होते हैं देव शब्द का था पूज्य पूज्या अतएव इसलिए ना आचार्य उपाध्याय इति उक्त प्रतिम गुरबंदी लोग गुरुओं को आचार्य बोले उपाध्याय बोले तो प्रेम करेंगे उस छात्र से गुरु आचार्य उपाध्याय इति प्रतिम पूर्वम पूर्वंतु तो लोग लोग में ऐसा जगह प्रेम करते हैं छात्रों से किंतु उनका नाम कुछ और विश्वमित्र आदि नाम होगा हाँ ए विश्वमित्र ऐसा बोल देंगे तो नाराज डंडा पड़ सकता है ये कहा ये कहते हैं न तो विष्णु मित्र विष्णु मित्र आदि नाम ग्रहणे आचार्य आदि नाम लेने पर खुश होते हैं किंतु उनका नाम था विष्णु मित्र था किंतु नाम लेने पर नाराज प्रेम नहीं करे नाराज हो विष्णु मित्र आदि नाम ग्रहण इति भाव कहा नामना परोक्षत्व नाम में परोक्षता क्या है कहते हैं नामना परोक्षत्म नाम यथार्थ नामनो रूपांतर करने न स्वरूप आच्छा यही है नाम को परोक्ष करना मैंने जो जैसा नाम है उसमें स्वरूप रूपांतर करके बोलना अन्य अन्य शब्दों से बोलना उसका स्वरूप को ढक देना वो नाम का स्वरूप मुख्य नाम को ढक देना अन्य रूपांतर से बोलना यही है परोक्ष ऐसा करना एक आश्रे है तो इदंद्र है किंतु इंद्र शब्द से कहते हैं ब्रह्मदत्ता लोग कहा समय हो गया है यह कहते ओम बांग में ममसी प्रतिष्ठिता मनो में प्रतिष्ठित आदि वेदस्य मानिष्ठः सुखं मे मा प्राशीरणे माधीरेणाहोरात्रान् सन्दधामि